उपस्थित सज्जन अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तदे जति तत् न ए तत् दूरे तदु अंतिके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला मंत्र है तद ए गति लोग ऐसा समझते हैं ईश्वर चलता फिरता है उत्तर दिया गया तक न गति ईश्वर कभी नहीं चलता फिरता तब दूरे जो उल्टा आचरण करते हैं मिथ्या आचरण करते हैं उनके लिए ईश्वर दूर है कभी नहीं मिलता तदुवंती के जो शुद्ध आचरण करते हैं उनके बिल्कुल निकट कम है तदंतर से सूक्ष्म सूक्ष्मतम पदार्थों के अंदर भी वो विद्यमान है तदु सर्वस्य से बाह्य कर पूरे जगत के बाहर भी ईश्वर है ऐसा ईश्वर का निर्णय वेद कहता है अब ध्वन वही होगी त्रंबकमयी रामयी ओ मैं जकी तदूरे तदुवन्ति तदन्तरस्य सर्वस्य के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और स्मरण रहे कि करोड़ों लोग ये मान के चलते हैं कि संसार के विषय भोगों में सुख है और उसमें दुख है कोई ही मानता होगा दूसरे वर्ग में ईश्वर में नित्य जो सुख है आनंद है उसको सुख मानने के लिए तैयार नहीं है ऋषि कहते हैं संसार के अंदर सुख है ये निश्चित है कोई वाद विवाद नहीं पर उन्होंने कहा संसार के अंदर जो सुख है वह क्षणिक है और उसमें दुख मिश्रित है दुख मिश्रित होने के कारण से उसको दुख रूप मानना चाहिए इस क्षणिक सुख को दुख मिश्रित सुख को ये व्यक्ति अज्ञानता के कारण विशुद्ध सुख मानता है अथवा ये ये सोचता है दुख के बिना तो सुख मिलना नहीं इसी को भोग लो और क्या करो क्या समाधान करता है दुख के बिना तो सुख मिलना नहीं और मिलना है तो यही है और कोई है नहीं तो इसी को क्यों नहीं ले लो क्योंकि दुख भी भोग लेना सुख भी भोग लेना वो ऐसा मान के चलता तो ये व्याख्या की लंबी बात है घंटों तक समझाते चले जाए उदाहरण देकर तब समझाया जा सकता है तो चौथी बात ऋषि ने कही है कि जड़ पदार्थों को चेतन मानता है और चेतन को यह जड़ मानता है यह अविद्या का चौथा भाग है आत्मनिरीक्षण करना हो तो आप संध्या में बैठ के देख सकते हैं परीक्षण कर सकते हैं सुनने के पीछे भी पढ़ने के पीछे भी बार बार आवृत्ति करने के पीछे भी आप मन को चेतन नहीं समझ पा रहे हैं क्या नहीं मन को जड़े मन को जड़े नहीं समझ पा रहे परंतु मन को चेतन समझ पा रहे हैं इतना होने पर हमने सुना है चीन कितना बड़ा देश है इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं बहुत शक्तिशाली भी है प्राय वो लोग इस पिंड के सिवाय और कुछ आत्मा वात्मा नहीं मानते इतना ही ज्ञान विज्ञान है चेतनता है इसी की है जो हाव भाव है इसी के हैं अनुभूतियां जो है इसी की हैं अर्थात इस जड़ पदार्थ को ही वो चेतन समझते और इसके मरने के पीछे सब कुछ समझते खत्म समाप्त हो जाता है इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है ऐसा मानते अज्ञान की जड़ें गहराई से दूर दूर अब इस प्रकरण को यहां विद्या अविद्या वाले को छोड़ते हुए विषय तो बहुत लंबे होते हैं दूसरी बात और सुनिए जहां जहां ऋषियों ने यह व्याख्या की जीवात्मा अशुद्ध होता है वहां पर यह व्याख्या भी की है जीव आत्मा अधर्म आचरण से अशुद्ध होता है अन्याय आचरण से अशुद्ध होता है मिथ्या चाल चलन से अशुद्ध होता है आप देख सकते हैं किसी भी भाग में जाकर के जो जो व्यक्ति अन्याय करता है उसका आत्मा इतना गिर जाता है इतना पतित हो जाता है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीत लेना चाहता है कचहरियों में जाके देखो कभी छोटे से छोटा व्यक्ति ऊपर से ऊपर जाइए आप एक सीधे साधे व्यक्ति का मुकदमा है दस हजार रूपये चुराए गए नाम भी दे दिया पता भी दिया तो भी इसके पंद्रह हजार फेर खर्च हो जाएंगे और वो दस तो गए हो गए क्या नहीं होता है इतनी भयंकर चरित्र पति पतित तो हुआ व्यक्ति का अधर्म आचरण जितना बढ़ता जाता है उतना पतित होता जाता है जितना बढ़ता जाता है उतना पतित होता जाता है अधर्म आचरण करने से जीवात्मा अशुद्ध होता है ध्यान रखिए वैदिक परिभाषा ये जो लोग कहते हैं कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है धर्म अधर्म तो कहने की बातें हैं एक मोटी भाषा में समझ पहले ऋषि ने बात कही कनाल ने उन्होंने कहा कि जिस काम के करने से जिस ज्ञान विज्ञान से जिस उपासना रीति से व्यक्ति का लौकिक सुख बढ़ता है और मोक्ष में भी चला जाता है मैं उसको धर्म मानता हूं दोहराइए क्या परिभाषा बनाई जिस आचरण से जिस ज्ञान विज्ञान विद्या से जिस उपासना से व्यक्ति का लौकिक सुख भी बढ़ता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसका नाम धर्म इसका कोई खंडन नहीं कर सकता इसको यूं भी बोल सकते हैं हम जिस ज्ञान विज्ञान से जिस आचरण से जिस उपासना से अपना और दूसरों का लौकिक सुख बढ़ता है और अंत में मोक्ष मिलता है उसका नाम धर्म दूसरे शब्दों में कह दीजिए जिस ज्ञान से कोई भी हो जिस आचरण से और जिस उपासना रीति से अपना और दूसरों का सुख बढ़ता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति भी होती है उसका नाम धर्म इसका कोई खंडन नहीं कर सकता इसके विपरीत जिस ज्ञान विज्ञान से उल्टा करते दे उसको मिथ्या ज्ञान से जिस मिथ्या आचरण से अन्याय से अधर्म से जिस कुरीति से उल्टी उपासना से अपना और दूसरों का दुख बढ़ता है और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती उसका नाम अधर्म है अन्याय है असल ईश्वर की दृष्टि में धर्म की परिभाषा ईश्वर का जो आदेश है ये करो और दूसरा आदेश है ये न करो बस जिसको इस जिसमें कहा गया कि ये करो वो धर्म है जिसमें ये कहा गया ये न करो अंतिम निर्णय ईश्वर का चलता है अंतिम निर्णय धर्म का ईश्वर ही करता है किसी के बस की बात नहीं बादशाह के लोगों का हमने अध्ययन किया आर्य भाषा में हिंदी भाषा में दार्शनिक उनके मंतव्य पढ़े और मंतव्य और पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जो कि साधारण व्यक्ति भी ऐसी नहीं करता बार बार ये बात आती रही एक दार्शनिक कहता है ये बहुत अच्छा काम है और ये बुरा है दूसरा दार्शनिक कहता है आप स्वयं कहते हैं अच्छा काम है आप तो अल्पज्ञ हैं आप कैसे ठेका लेते हैं आपकी बात ठीक है उसे उसका उड़ा दिया तीसरा कहने लगा मैंने जो बात लिखी है ये अच्छी है सबके लिए उन्होंने कहा कि आपका क्या उत्तरदायित्व है आप कहते मेरी बात ठीक है आप अल्पज्ञ हैं हाँ मैं अल्पज्ञ हूं फिर अल्पज्ञ तो भूल कर सकता है फिर तेरी बात गलत हो सकती है तेरा धर्म कैसे बनेगा सारे की धज्जी उड़ती गई कोई नहीं जम सका मनुष्य को अंतिम निर्णय करने वालों में कोई निर्णय नहीं कर पाए ऋषियों का इसे विपरीत रहा है ऋषि कहते हैं कि हमारी बात अंतिम नहीं है अंतिम धर्म का निर्णय हमारी बात नहीं करेगी हमारी बात वहीं तक चलेगी जहां तक वेद के ईश्वर के अनुरूप होगी वेद के विरुद्ध ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध कोई हमारी बात आए तो वो झूठी है उसको छोड़ देना अब हम हम धर्म के अंतिम निर्णायक नहीं ऋषि ये मानते धर्म और अधर्म के न्याय के सत्य के निर्णायक ऋषि अंतिम नहीं मानते उन लोगों को या तो ईश्वर समझ में नहीं आया और जो आया सो उल्टा आया ये निर्णय नहीं कर सकते धर्म क्या और पाप क्या आज भी इनके पास में कोई निर्णय नहीं याद रखिए ईश्वर जो है उसका अंतिम निर्णय माना जाता है माना जाना चाहिए क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ कारण ईश्वर का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए धर्म के संबंध में क्योंकि ईश्वर सर्व व्यापक भी है यदि सर्व व्यापक है ईश्वर तो सर्वज्ञ है जो सर्व व्यापक नहीं है वो सर्वज्ञ भी नहीं है आपने सुना होगा कई लोगों का परमात्मा चौथे समान पर किसी का सातवें समान पर किसी का परम धाम में रक्षी जी का कैलाश पर्वत में और है वह सर्वज्ञ उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ क्यों है क्योंकि वो ईश्वर है क्या समझ माया बोले उत्तर क्या दिया उन्होंने हमने कहा सर्वज्ञ कैसे हो सकता है मुनि सर्वज्ञ नहीं एक जगह रहता नहीं काल यह है वो ईश्वर है इसलिए सर्वज्ञ है नहीं आई बात समझ क्या आई बैठा एक एक बोले हाँ बैठे साथ में आसमान पर है हाँ है सर्वज्ञ वो ईश्वर है इसलिए है सर्वज्ञ हम ईश्वर नहीं है इसलिए सर्वज्ञ नहीं वो कहते वो ईश्वर होने से सर्वज्ञ है एक जगह रहता हुआ ईश्वर सर्वज्ञ हो सकता है मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य मनुष्य है वो ईश्वर कारण तो तो हाँ बोलो बोलो तो ठीक बात है तो सही होगा तो एक देशी होगा एक देशी होते सर्वज्ञ है क्योंकि वो ईश्वर है ईश्वर एक देशी होता है सर्वज्ञ हो सकता है मनुष्य नहीं हो सकता यही भेद है मनुष्य और ईश्वर भेद क्या है वो एक देशी को मान रहे हैं हाँ पर सर्वज्ञ भी मान रहे हैं और कारण क्या पूछते हैं तो कारण क्या बताते हैं क्योंकि वो ईश्वर है क्योंकि ईश्वर बल्कि कारण है ये कारण है विचित्र समझना अब जो दर्शनों को पढ़ते सुनते हैं ये कारण गलत है उन जो कारण हेतु जो रख रहे हो हेतु हेतु नहीं है ध्यान देना ईश्वर है या नहीं अभी ये सिद्ध ही नहीं है सिद्ध नहीं हुआ है और आप ईश्वर कह के समाधान करना चाहते हैं क्योंकि वह ईश्वर है हम उदाहरण पूछना चाहते बताते हैं एक उदाहरण देके बताओ कि एक देशी वो व्यक्ति होता हुआ सर्वज्ञ है ऐसे ईश्वर भी सर्वज्ञ है कोई उदाहरण तो है नहीं आपके पास केवल पतज्ञा मात्र है पतज्ञा मात्र से कोई बात सिद्ध है क्योंकि वह ईश्वर है वह ईश्वर है तो, तो एक जगह रहता हुआ ईश्वर भी कैसे होगा कोई उदाहरण तो दो इसलिए न्याय दर्शनकार ने पंच औयों का प्रयोग किया प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन पांच बातें कहो तब आपकी बात मानी जाएगी केवल एक दो बात कहने से बात नहीं मानी जाएगी एकम हाँ जी हाँ मैं बताता हूं इसका अर्थ है ईश्वर एक ही, ही है और उसकी विविध प्रकार से वर्णन करते हैं गुण अनंत है लेकिन ये लोग बात करते हैं जो सब है वही है मैं यही कहता हूं ये उनकी भूल है विविध एक है एकम सत एक होते हुए भी विद्वान लोग उसकी विविध गुणनाओं शक्तियों का वर्णन करते हैं और विविध में उसके विविध गुण आते कोई ठिकाना थोड़ा ही ईश्वर के गुणों का और लोगों ने भूल से मान लिया ईश्वर है तो एक और वो जो कवि विद्वान लोग हैं वो उसको चाहे जैसा कहकर वर्णन कर देते हैं गथा बन जाता है घोड़ा बन जाता है ये है ये बिल्कुल बेकार बात है अनंत गुण है ईश्वर में ज्ञान की दृष्टि से आनंद की दृष्टि से बल की दृष्टि से अनंत तो एक बल का ईश्वर सर्वशक्तिमान है एक न का ईश्वर सर्वज्ञ है एक न का ईश्वर ईश्वर जो है दयालु है पता नहीं कितने गुण है उसका कोई ठिकाना नहीं इसलिए कभी इसको चंद्रमा नाम से बोल दिया जो चंद्रमा आनंद देने वाला होने से चंद्रमा ईश्वर का नाम है सूर्य प्रकाश करता है ईश्वर का नाम सूर्य भी है अब जो भी गुण देखो वो ईश्वर में है इसलिए विविध प्रकार से वर्णन है एक औसत विप्रा बहुधा वदन की ये न समझने से गलत धारणाएं बैठी हमारी बात सुनिए ईश्वर सर्वज्ञ है कहां से चले हम क्योंकि वह ये हेतु है क्योंकि वह सर्वव्यापक है जो जो सर्वव्यापक नहीं होता वह सर्वज्ञ भी नहीं होता जैसे रघुवीर जी ऐसा एक देशी ईश्वर नहीं है इसलिए सर्वत्र व्यापक होने से ईश्वर सर्वज्ञ है हम ये उत्तर देते हैं और ये बिना सिर की बात करते हैं कि ईश्वर है ईश्वर तो है मुझे ही पूछ रहे ईश्वर है कहना उसका उदाहरण देखिए समझाओ ईश्वर है ईश्वर है ये सर्वज्ञ भाई एक दिन ईश्वर कहने से सर्वज्ञ कैसे सिद्ध तो हो गया उदाहरण दो एक अपने सारे देश को जानता है कौन राजा बिल्कुल गलत है डाके पड़ते राजाओं के तो उसको पता ही नहीं उसको पता भी नहीं होता मारे जाते बहुत मारे गए इंदिरा गांधी जी ने उठा के रख दी क्यों नहीं जाना उसने मेरी घटना होने आई गलत उदाहरण है ऐसे उदाहरण देते राजा राजा कहां कितनी गलतियां करता राजा परमात्मा गलती कभी नहीं करता एकाध गलती करता होता था तो, तो राजा का दृष्टांत बन जाता ईश्वर <laughs> एक भी गलती नहीं करता तो राजा का दृष्टांत बनेगा ही नहीं वह जीव का दृष्टांत देते हैं तो आर्य समाजी जीव को एक जगह मानते हो हाँ एक जगह मानते सारे शरीर में नहीं है और सारी चीजें जानता है बिल्कुल नहीं जानता हम कितनी नाड़ियां हैं कितने नशे हैं डॉक्टर भी नहीं जानते हमारी तो कथा क्या है गलत दृष्टांत हम कहां जानते हैं कौन सा रोग कहां हुआ क्या कारण कहां है कौन सी नाड़ी कहां है ये करेक्ट क्या काम करता है कहां जानते हैं मोटी मोटी बातें भी नहीं जानते जीव का दृष्टांत भी गलत है वो कहते जीव आत्मा एक जगह रहता हुआ सारे शरीर को जानता है बिल्कुल नहीं जानता गलत उदाहरण है ईश्वर सर्वज्ञ है क्योंकि सर्वत्र व्यापक है जो जो सर्वत्र व्यापक नहीं है वह सर्वज्ञ नहीं होता जैसे मनुष्य हम वैसा एक देशी ईश्वर नहीं है इसलिए सर्वत्र व्यापक होने से ईश्वर सर्वज्ञ और यही बात यहां पर है कि सर्वज्ञ होने से ईश्वर भूल नहीं करता दूसरी बात ईश्वर शक्ति शक्तिमान है इसलिए भी भूल नहीं करता क्या समझ में आए समझ में एक व्यक्ति जानता तो है कई बार कि ऐसा होना चाहिए सारा विधि विधान और बलवान भी आगे दबोच लेता उनको दबा दबा करके उल्टा उल्टा करवा देता नहीं देखा आपने राजनीति वालों के यहां देखा हो और कहीं देखा हो हो रहा था कुछ करवा दिया कुछ नहीं जानते क्या जानता था कि ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री ये जानता था कि राष्ट्रपति होना चाहिए दबाव पड़ा राष्ट्रपति का पद जाएगा उसने मोड़ दे दिया वो सरस्वती मान था नहीं कहने का इसके बिना गुजारा नहीं है मुझे उखाड़ के फेंकेंगे या <laughs> इसलिए ने कहा कि ठीक है ऐसा कर दो तो ईश्वर इसलिए भी कभी भूल नहीं करता क्योंकि ईश्वर उसको कोई दबा नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता किसी की शक्ति नहीं उसके न्याय को भंग करवा दे कभी किसी की शक्ति सामर्थ्य नहीं है ईश्वर के न्याय को तोड़ दे यदि थोड़ी शक्ति वाला होता तो चाहे तो दबोच देता ईश्वर को चाहे के बाद न्याय करवा देता ईश्वर से एक बड़ी रोचक कथा आई एक दिन मर गया कश्मीर और एक आप जैसा व्यक्ति हो घंटी बजा रहा शंकराचार्य के मंदिर में टनाटन टनाटन टनाटन और गा रहा था इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी इस भोले से बाबा को चाहे जो मन इससे तो सूचना एक हमारे मध्य प्रदेश के रोचक बात सुनाया करते आप थकोगे कभी सारे दिन सुनते सुनते थक जाते हो वो बना लेते हैं कई कथा और कई हो भी जाती हरियाणा में सुनाते थे वो वो कहने लगे एक बहन की बीज की अवस्था की उसके बच्चे उत्पन्न होते थे वो मर जाते थे पुत्र हुआ वो मर गया पुत्री हुई वो मर गई ऐसे मरते जाते थे बुढ़िया माता के समान वो चिंता व्यक्त की माता जी मेरे तो जो संतान होती है वही समाप्त हो जाती है कहते बेटी मैं आपको बहुत अच्छा सस्ता इलाज बताती हूँ अब की बार जो लड़का लड़की हो मुझे बता देना तो कहने के अच्छा तो पुत्र उत्पन्न हो गया वो माँ के पास में गई माता जी पुत्र उत्पन्न हो गया है अब ये मर जाए कभी ऐसा ना हो आप मुझे बताओ इनके बिल्कुल नहीं मरेगा हम तो कहेंगे कैसे बचेगा उन्होंने कहा कि इसका जीवन नाम रखो ना नाम जल्दी से जल्दी इसका नाम कूड़ा रख दो कचरा गुजरात में कचरा कहते हैं हमारे यहां कूड़ा कहते हैं <laughs> एक व्यक्ति यहां भी अपने आर्य समाज में अब भी होंगे जान वो थी अवस्था उनकी सत्र के लगे उन्होंने कहा आपका नाम क्या है मेरा नाम कचरा है खाने वाले को भी कहते हैं खरबूजे जैसा होता कचरा वो वहां हम बोलते हैं तो कचरा या गुजरात के लोग कूड़े को कचरा बोलते हैं तो वो कचरा कूड़ा करके माता जी का नाम कचरा कूड़ा रख देना और ये जीवेगा मरेगा बिल्कुल नहीं क्या बात है ऐसी कचरा नाम रखने से कूड़ा नाम करके बात ऐसी है जैसे कूड़ा कहीं बिना ही कोर्ट में पड़ा रहता गड्ढे में पड़ा रहता कोई देखता ही नहीं ये कूड़ा नाम रख देंगे तो भगवान इसको देख नहीं पाएगा इसे मार भी नहीं पाएगा बूढ़ा नाम है बूढ़े देता है तो हमारा प्रसंग था याद रखिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है आगे बढ़ जाइए ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है आनंद की कोई कमी नहीं समझ रहे जिसके पास में आनंद की कमी होगी वो अन्याय कर सकता है क्या समझ में आया जिसके पास में सुख की कमी है उसकी पूर्ति के लिए अन्याय कर सकता है ईश्वर के पास में अनंत आनंद होने से उसकी पूर्ति की कभी अपेक्षा नहीं रहती इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है अनंत आनंद वाला होने से ईश्वर अन्याय नहीं करता ये जो ईश्वर की विशेषताएं बताई जा रही ऐसी विशेषताएं हैं इनके रहते हुए ईश्वर सर्वज्ञ और न्यायकारी है यदि इनको हटा दिया जाए तो फिर सर्वज्ञ न्यायकारी सिद्ध नहीं होता ये दूसरे मत वाले से जाके पूछो कहेंगे जी ये जो भगवान है खुदा है ये क्या करता है कहते जी इसकी इच्छा है अपनी ये जो जिसको जो बनाना चाहे बनाता रहता है अपनी इच्छा के ऊपर है अर्थात वे लोग कर्म को कारण नहीं मानते परमेश्वर हमको मनुष्य जन्म देता है या पशु आदि बनाता ऐसा नहीं मानते वो ये उत्तर देते खुदा की मर्जी खुदा की मर्जी चलती है वहां अपने वैदिक परंपरा में खुदा की मर्जी बिल्कुल नहीं है ईश्वर स्वभाव से न्यायकारी है और सबके लिए एक जैसा है और एक जैसा न्याय करता है यदि ये ईश्वर के मानने वाले सारे इसी ईश्वर को मान ले तो ईश्वर के संबंध में जितने झगड़े हैं वो समाप्त हो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ईश्वर सबके लिए एक दृष्टि से देखता है एक ही हमारा धर्म है एक ही हमारा ईश्वर है एक ही हमारी मुक्ति है एक ही हमारा अच्छा है एक ही वर्ग में हमारा बुरा है अर्थात जिसको हम नहीं करते इस रूप में मैंने थोड़ा सा सुनाया है और मैंने ये सुनाया कि जीवात्मा ईश्वर के आदेश का पालन करता है ऋषिकृत ग्रंथों में संविधान के अनुसार आचरण करता है उसका खान भी वैसा ही है उसका लेन देन भी ऐसा ही है उसकी कमाई भी ऐसी ही है वो जीवात्मा शुद्ध होता जाता है यदि उल्टा होने पर ये जीवात्मा यही जीवात्मा वैसे देखा जाए तो जीवात्मा के अंदर कोई चीज ऐसे घुसती नहीं ये संसर्ग से होता है ध्यान दे यदि ये ईश्वर के संसर्ग में आता है तो शुद्ध हो जाता है उसकी उपासना करता है परिशोर तपोगुण आदि के संसर्ग में आता है तो ये अशुद्ध हो जाता है जी बात हाँ। ये जीवात्मा के अंदर है तो इसलिए जीवात्मा हम थोड़े से शब्दों में कहना चाहते थे अज्ञान से अशुद्ध हो जाता है एक बार अधर्म आचरण से अधर्म में सब कुछ आ गया अशुद्ध हो जाता तीसरी बात गलत उपासना से मंत्र क्या था शक्ति ये असंभूति में उपासके तथो भूय रहते तमह मंत्र का भाव है में प्रविशंति ये असंभूति में उपासके जो लोग प्रकृति की उपासना करते हैं जैसे बच्चे लोग दिन रात प्रकृति की खोज चलती है ईश्वर की कोई खोज उनके पास बनी है वो अत्यंत अंधकार को मां अज्ञान में जाते हैं जो उसकी उपासना करते हैं और जो लोग खाने पीने की चमकीली चीजों की उपासना करते हैं अर्थात सोना चांदी वस्त्र भोजन मकान बिजली ये जूता ये जो जितनी चीजें हैं इसको कहते कार्य कार्य रूप जगत खाने पीने की चीजें मोटी वो उससे भी भयंकर अंधकार को प्राप्त करते हैं तो इससे ये बात बतलाई प्रकृति की उपासना करना भी हानिकारक है और प्रकृति से बना जो जगत है उसकी उपासना करना भी हानिकारक है प्रकृति की उपासना करने वाला व्यक्ति अपवित्र होता है प्रकृति से बनी चीजों की उपासना करने वाला व्यक्ति भी अपवित्र अशुद्ध होता है अब हमारा समय समाप्ति की ओर है अब आप सज्जा करेंगे तैयारी करेंगे एक सज्जा है उपलब्धियों को सुनाने की आप इतने दिनों से पढ़ते आए सीखते आए जानते आए मनन करते आए हम ये जानना चाहते हैं आपकी मौखिक परीक्षा लेना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा प्रत्येक व्यक्ति का पता तो चले इतने दिनों में इस व्यक्ति ने हमने जो परिश्रम किया उसमें से कितना इसने हस्तगत किया उपलब्ध किया वो हमको पता रहना और आप ऐसा करेंगे तो तैयारी करेंगे जब सज्जा करेंगे तो याद होगा सुनाने के लिए लिखने के लिए जो व्यक्ति तैयारी करता है तो उसके संस्कार बनते हैं वो याद रहता है जो सुनाता नहीं लिखता नहीं उसको सुना सुना सुनाया भी लगभग भूल जाता है इसलिए उसको याद भी करना चाहिए बार बार सुनने सुनाने से पढ़ने पढ़ाने से व्यक्ति के संस्कार बनते हैं और वो संस्कार विद्या को उत्पन्न करते हैं तो आप अच्छी तरह सुनाइए अगली बात ये भी याद रखिए कि कोई यहां खड़ा होकर जो सुनाता है ये छोटा सा बच्चा जितने निर्भीकता से ये सुना देता है आप में से बहुत कम लोग मिलेंगे मिले क्या नहीं मिले इस बच्चे का अभ्यास करवाया जा रहा है अब आगे चल के कितना ही बड़ा हो जाएगा एक लोकसभा में कर दो लाखों लोगों में ये धारावाहिक होने का डरने का प्रसंग ही नहीं यही बालक है नहीं बोलो तो बुढ़े हो जाने पर भी दो बात या कहेंगे अब कई बेचारे लिख के लाते हैं वो उसे सुना नहीं सकते और एक है थोड़ी रोचक सी बात वो कहते भाइयों बहनों मैं सुनाना चाहता हूं और मैं वहां का रहने वाला हूं वो कंपता रहेगा वो बोलता रहेगा वो बुढ़ा हो गया उसको बोलना सीखा नहीं कहीं खड़ा होना सीखा नहीं तो कंपेगा ही महात्मा गांधी जी के विषय में आता है महात्मा गांधी जी वकील भी थे वो भी था पढ़े लिखे थे फिर भी बताया जाता वो पत्थर नहीं पढ़ सकते थे सभा पत्थर नहीं पढ़ सकते कालांतर में उन्होंने अभ्यास किया और आगे चल के फिर वो के गोले के सामने खड़ा करते तो महात्मा गांधी युवा बोल देंगे महात्मा गांधी वही है व्यक्ति के अंदर ये योग्यता पैदा की जाती है घर से कोई महात्मा पैदा थोड़ी होते इसी जगह तो खड़े हो और बोलो अपना सास से बात करो बोलो डरने की बात क्या है कोई गलती होगी तो हम बताएंगे फिर आगे सुधर जाएगी आप एक व्यक्ति है सौ नहीं हजारों को प्रभावित करेंगे आप बोलना आपको आता नहीं पड़ोसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते आप बोलना सीखो ये कायरता कमजोरी को हटा दो और बोलना आएगा धीरे धीरे आप बोलने की शैली पद्धति विचारपूर्वक बोलेंगे और बहुत बड़ा दूसरी बात है विशेष रूप से संकल्प की व्रतों की बिना संकल्प व्रतों के प्रतिज्ञा के कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बनता कभी आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो महापुरुष बना हो और प्रतिज्ञा न हो आज कोई महापुरुष मिलेगा तो प्रतिज्ञाओं से युक्त जिसके संकल्प आदर्श होंगे वो महापुरुष मिलेगा शेष व्यक्ति महापुरुष के रूप में नहीं मिलेंगे आगे कोई उत्पन्न होगा तो संकल्पधारी प्रतिज्ञावान व्यक्ति शत प्रतिशत ये काम मुझे करना है ये नहीं करना ऐसा व्यक्ति ही महापुरुष के रूप में आता है अपनी सुनी हुई बातों को संकल्प लेके व्यक्ति आगे बढ़ाता है और वो उस संकल्प के आधार पर गिरता है उठता है फिर पश्चाताप करता है फिर चलता है फिर उठता है फिर गिरता है वही साधारण व्यक्ति असाधारण बन के खड़ा हो जाता है ये स्वाभाविक बातें हैं आप गिरेंगे उठेंगे लाख बार गिरेंगे लाख बार उठेंगे ये कोई नई घटना नहीं ये तो हमारा क्षेत्र है युद्ध का क्षेत्र है बुराई से लड़ना है अज्ञान को उखाड़ के फेंकना है अधर्म को दूर करना है कमजोरी को दूर करना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी सब प्रकार की अंदर काम करो तो वो मोह शत्रु है अंदर और बाहर जो है वो वेद के विरुद्ध ऋषियों के विरुद्ध दर्शन विद्या के विरुद्ध भारतीय परम्परा के विरुद्ध है वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है और अपने देश के विरुद्ध है अन्याय उनके जितने भी विचार हैं या व्यक्ति हैं उनको भी टकरा के दूर करना ही पड़ेगा ऐसे काम नहीं चल सकता अब इसको विराम दिया जाता है आप सच्चा करें